त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य ये हो गया था ये हो गया था तदपि बहिरंगम निर्बीज से तद त्रयम अंतरंगम त्रयम किम धारणा ध्यान समाधि इसका नाम क्या है संयम पुत्र क्या है त्रयम एकत्र संयम उसके जय से क्या लाभ है तस्य भूमि से विनियोग तस्य का क्या अर्थ हाँ, स्वयं का भूमि ये अंतरंग अंतरंगम पूर्वेभ्य कतिभ्य पंचभ्य पंचेभ्य हो गया क्या बहुजन जल तो नहीं रहेगा पंचशत बहुवचनांति से बहुवचन ग्रह तो नहीं बहुत दिन ग्रह रहता है क्या एक वचनांत तो लग गया लगेगा तो बहुवचन में लगता है बहुवचन है जलिए तरा में भय नहीं होता है तो पंचम का क्या बन गया भयस में बहुत दिन बहुवचन तो लग गया नहीं बहुत दिन जल तो लग गया मैंने बताया तो, तो मालूम है ना तो लोग हो जाता है ना लोग बता बन जाता है अदंत हो गया अदंत उनको को एक तो होता है यह दूसरे ऊपर होते जलादेश हो जाते समाधान है क्या नहीं न लोप शुभ स्वर संज्ञा तो विधि से कृति न लोप सिद्ध होता है ये शुभ विधि है सुपर तत्व विधि होने से न लोप सिद्ध होने होता है बहुत दिन गलत नहीं लगे राजभ्रामी इसी प्रकार है राजभ्य में राजन का क्या बनता है पंचमी बहुत में राजन शब्द का क्या रूप बनेगा बहुवचन से बने रहता है वहाँ भी न शुभ सर संज्ञात विद्युषि न लोप सुधरण से अदंत बनेगा पंचभ्य तदपि बहिरंगम निर्वीय टीका निर्वीज से असंप्रज्ञात से समाधेर इत्याह निर्वीज है ऐसा ये नहीं तदपि तदपि का अर्थ अंतरंगम साधना जो धारणा ज्ञान समाधि साधना त्रय साधना त्रय अंतरंग है किंतु ये निर्बीज से बहिरंगम निर्बीज योग समाधि का ये बहिरंग साधन है अन्य के अपेक्षा अंतरंगत तो है सविकल्प तो तो समाधि के लिए किंतु निर्वीज समाधि के लिए है बहिरंग है असंप्रज्ञात असंप्रज्ञात तो समाधि का यह अंतरंग नहीं है कस्मात तद अभावे भावाति तद अभावे भावा धारणा ये तीनों समाप्त होने पर ही निर्वीज समाधि होती है टीका में समान विषयत्व अंतरंगत्व प्रयोजकम यह यहाँ अंतरंग जो कहा गया धारणा ध्यान समाधि त्रय अंतरंग समान विषयत्व ये अंतरंगत्व का प्रयोजक न तो तद अनंतर भाव तद अनंतर भाव से अंतरंग ये अर्थ नहीं तस् तस्य बहिरंग ईश्वर प्रणिधान वर्तितया शब्द विचारित्वादि कहते सभ्य विचारम अंतरंग लक्षण तदनंतर भावित्व अस्य तस्मा दूरापेता अंतरंगता संयम से असंप्रज्ञात दर्शय तदभावे भावातीत पांच साधन में साधन के अतिशय धारणा ध्यान समाधि अंतरंगता समान विषय तो अंतरंग का कहीं कहीं जो उसके ठीक अनंतर होने पर उसको अंतरंग कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यात्म ज्ञान का अंतर्गत साधन वेदांत में कहते हैं क्योंकि पहले बहुत कर्म उपासना संतकों शुद्ध होने पर श्रवण मनन निधिध्यात्म से ज्ञान होता है तद अनंतर भावी होने से अंतरंग कहा गया किंतु यहाँ अंतरंग शब्द का अर्थ नहीं कि भावी समान विषयत्म अंतरंगत्व प्रयोजकम यह यहाँ अंतरंग बनने का कारण है समान विषयक समाधि जिस के है धारणा ध्यान भी तद के है सभी कल्प समाधि भेद विषय के प्रकृति पुरुष भेद विषय के तो धारणा ध्यान भी तद विषय तो होगा न तो तद अनंतर भाव उसके अव्यवहित तो उत्तर में होने से अंतर में ये अर्थ नहीं क्योंकि तस्य बहिरंग ईश्वर प्रणिधान वर्तित है ईश्वर अथवा समाधि सिद्धि हो जाती है ईश्वर परिधान तो धारणा ज्ञान के अपेक्षा वही भंग है किंतु उसके अव्यहित तो उत्तर क्षण में समाधि हो जाती है ईश्वर प्रणिधान वर्धिता ईश्वर प्रणिधान में न वर्तते तदनंतर भाव ईश्वर प्रणिधान वर्त ईश्वर प्रणिधान में ही लक्षण घट जाता है किंतु अंतरंग में बहिरंग है यदि अनंतर भाव अंतरंग का अर्थ करेंगे तो अनंतर भाव लक्षण ईश्वर प्रणिधान में घटेगा किंतु अंतरंग नहीं बहिरंग है इसे सभ्य विचार व्यभिचार हो गया यदि अनंतर भाव लक्षण करेंगे ये लक्षण घट जाता है ईश्वर प्रणिधान में जो कि अंतरंग नहीं धारणा ध्यान समाधि से देना है व्यभिचारी हो जाएगी स्थिति सभ्य विचार में अंतरंग लक्षण तद अनंतर भावित्व अश्व नास्ती ये हुआ तद अनंतर भावित लक्षण भावित्व सभ्य विचार व्यभिचारी ये ठीक अंतरंग का लक्षण नहीं है तो भी जो व्यभिचारी लक्षण है सब अनंतर भावित्व रूप व्यभिचारी लक्षण तो नहीं है तो भी व्यभिचारी लक्षण भी नहीं घटेगा तो संयम में संयम निर्बीज समाधि का अंतरंग नहीं होगा क्योंकि अनंतर भावी हो तो अंतरंग होगा वस्तु तो समान विषय तो, तो लक्षण है और निर्बीज समाज में कोई विषय नहीं है समान विषय तो लक्षण घटता नहीं है और अनंतर भाव लक्षण घट जाएगा वो भी ठीक नहीं अनंतर भाव तो लक्षण तो व्यभिचारी है तो भी निर्बीज समाधि के पूर्व क्षण में यह विषय नहीं है अनंतर भावितम तो अस्य नास्ती संयम में अनंतर भावित तो रूप लक्षण नहीं घटेगा क्योंकि संयम समाप्त होने के बाद ही निर्विजय समाधि होती है संयम के अनंतर भावी नहीं है तस्मा दूरापेता अंतर्मुखा संयम से असंप्रज्ञाते असंप्रज्ञाते समाधु संयम से अंतरंगता दूरा निरत्ता दूर निरत्ता संयम में अंतरंगत्व तो नहीं है दूर से अपगत है क्योंकि अव्यवहित तो उत्तर क्षण हो तभी तो घटे का लक्षण तो है ही नहीं जो व्यभिचारी लक्षण भी नहीं घटता है स्वयं के उत्तर भावी असंप्रज्ञात समाधि नहीं इति दर्शयित तदभावे भावादित उत्तम तदभावे भावा स्वयं समाप्त होने के बाद तो निर्विकल समाधि होती है परिणाम त्रय संयमादित्यत्र उपयुक्षमाण परिणाम त्रय प्रतिपिपादयु निर्बीज न पृछति परिणाम त्रय संयमात आगे सूत्र आएगा धर्म लक्षण अवस्था परिणाम तीन प्रकार कहेंगे तो परिणाम संयमाद इसमें जो आवश्यक होगा मान उपयुक्त होगा परिणाम त्रय तीन प्रकार परिणाम क्या है समझेंगे तो आगे परिणाम सूत्र तो ज्ञान होगा उसके लिए तीन प्रकार परिणाम का उपयोग होगा वो परिणाम त्रय को प्रतिपादन करना चाहते हुए सत्रकार प्रतिपिपादय प्रतिपादय तो निर्बीज प्रसंग अभी तो निर्बीज समाधि का बहिरंग साधन कहा गया सैम उसके प्रसंग से पूछते हैं अथ निरोध चित्त क्षणेशु चरण गुणवृत्तम कीदृश तदा चित्त परिणाम निरोध चित्त क्षण निरोध काल में जो चित्त का क्षण चित्त का अवसर समय है उस समय कीदृश तत्चित्त परिणाम चित्त का परिणाम कैसा है उस समय ऐसे चित्त स्थिर होता है ऐसा लगता है चित्त स्थिर हो जाएगा किंतु चित्त स्थिर नहीं चलम गुणवृत्तम गुणानाम वृत्तम व्यापार चलम प्रचार गुण गुणानाम व्यापार वृत्तम का व्यापार प्रचार गुणों का व्यापार गुणों का प्रचार चंचल चल परिवर्तन होता रहता है स्थिर नहीं होगा तो निरुद्ध चित्त क्षण में चित्त परिणाम कैसे होता है इसका उत्तर से टीका है वित्थान संप्रज्ञात चित्त से स्फुटतर परिणाम भेद प्रत्यानुभवा न प्रश्नावतार विरोध तो नान से परिणाम न चानन भूयमान नास्ती चित्त से त्रिगुणतया चलत्व गुणानाम क्षणम अपरिणाम से असंभवाद व्युत्थान संप्रज्ञात अवस्था में जो समाधि नहीं तो समुचित परिणाम तो अनुभव में आता है और संप्रज्ञात समाधि में व्युत्थान अवस्था में संप्रज्ञात समाधि में चित्त से स्फुटतर परिणाम भेद प्रचयानुभाव स्पष्टतर परिणाम विशेष होता है परिणाम भेद का प्रचय अधिक अधिक परिणाम होता है ये तो अनुभव में आता है इसलिए वहाँ प्रश्न करने का प्रसंग ही नहीं है जो अनुभव सिद्ध है वहाँ प्रश्न क्यों करना जहाँ निरोध अवस्था में अनुभव नहीं होता है इसके लिए प्रश्न करते निरोध चित्त क्षण से सामान्य सर्वदा नहीं पूछा व्युत्थान काल में संप्रज्ञात समाधि में चित्त में परिणाम होता है परिणाम विशेष अलग अलग होता है अधिक अधिक परिणाम का अनुभव में अनुभव होता है इसलिए वहाँ प्रश्न नहीं करके निरोध चित्त क्षण से पूछते हैं क्योंकि निरोध है तो नानुभूत परिणाम परिणाम अनुभव नहीं होता है यदि अनुभव नहीं होता है तो परिणाम नहीं प्रश्न क्यों करते हैं इसलिए तो कहते हैं न से अनुभूय मानो नास्ती अनुभव में नहीं आता है इसलिए नहीं है ये बात नहीं है अनुभव में नहीं आने पर भी वस्तु का अभाव सिद्ध नहीं होगा जिसको अभाव का अनुपलब्धि प्रमाण से निश्चय करते घटो नास्ति अनुपलम्बा किंतु केवल अनुपलम्ब मात्र से अभाव का निश्चय नहीं होता है अभी तो योग्य अनुपलम्ब होना चाहिए अनुपलम्ब में योग्यता होनी चाहिए योग्यता अनुपलम्ब हो तो अभाव निश्चय होगा जो रहने पर भी नहीं दिखेगा उसका उपलम्ब होगा ना नहीं रहने पर दिखेगा नहीं जो रहने पर भी दिखता नहीं वो रहेगा तो उसका अनुभव होगा या नहीं नहीं होगा जो रहने पर भी अनुभव में नहीं आता है वो रहेगा तो उसका अनुभव होगा या नहीं ये प्रश्न तो ऐसा कठिन है जिसका आधा बीस उसका आधा कितने मालूम है जिसका आधा बीस उसका आधा बीस या दस है जिसका अनुभव रहने पर भी जिसका अनुभव नहीं होता है वो पदार्थ रहेगा तो अनुभव होगा नहीं उसका नहीं होगा बोलो नहीं हुआ होगा रहने पर अनुभव नहीं हुआ जिसका अनुभव जिस, जिसके रहने पर भी अनुभव नहीं होता है वो यदि सामने रहेगा तो अनुभव होगा नहीं नहीं होगा यथा परमाणु रहने पर भी दिखता नहीं प्रेत भूत पिशाच रहने पर भी दिखता नहीं है रहेगा तो भी दिखेगा नहीं दिखेगा इसलिए अनुभव मात्र से अभाव निश्चय नहीं होता है कोई लोग दरवाजा बंद कर घर में सोचे सोते हैं बैठे पिशाच भूत से डरते हैं दिखता नहीं किंतु कहीं शब्द होगा तो अंदर कोई शब्द कोई मनुष्य शब्द सुनाना पड़ा यहाँ से हट जाओ मर जाओगे ऐसे कुछ सुना है डर लग गया नहीं दिखा नहीं किसी को शब्द सुना शब्द नहीं सुन भी डरते शब्द सुनने पर तो डर होगा शब्द नहीं सुना है कहाँ अगर तभी डर भूत पेता तो नहीं दिखने पर यदि अभाव निश्चय होगा निश्चय हो जाना चाहिए यहाँ भूत प्रत्य नहीं भय क्यों होता है भूत प्रेत से कोई भरता है भय करता है स्मशान में जाकर रात में बैठ कर देखो तो।, तो कोई नहीं दिखता है तो भी डरते हैं एकांत स्थान में जाकर देखें कोई दिखता नहीं तो भी डरते हैं तो नहीं होने पर कोई नहीं ऐसा निश्चय नहीं होगा नहीं दिखने पर भी हो सकता है तो परिणाम का अनुभव नहीं होता है इसलिए अनुभव अनुभवान नाती इस बात ऐसा नहीं है ये सर्वत्र लगाना है कोई कहते ईश्वर है तो क्या प्रमाण हो तो दिखना चाहिए नहीं दिखता है तो नहीं है इसे तो होगा नहीं दिखता है तो नहीं इसे सिद्ध नहीं होगा जो वस्तु दिखने पर सिद्ध होता है किंतु दिखने पर भी वो प्रामाणिक होना चाहिए और नहीं दिखने पर नहीं है जीवात्मा कोई जीव मरने के पहले और मरने के बाद दोनों सालों में कोई भेद दिखता है बराबर है भेद दिखता है जीवन अभी जिंदा है और मर गया तो क्या दिखा भेद है क्या चला गया दिखता है कोई जाते समय जब मर जाता है जाते समय कोई दिखता है दिखता नहीं तो कहीं कोई नहीं गया कुछ नहीं गया यदि कुछ नहीं गया तो दोनों में भेद कहाँ से हुआ मृत और जीवित में भेद तो है ही तो क्या भेद कैसे सिद्ध हुआ क्या हो गया नहीं दिखने पर नहीं ये बात नहीं नहीं दिखने पर भी है और सुख दुख आंख से तो दिखता है ना तो उसमें है सुख दुख का किसको नहीं है हाँ। मन से अनुभव होता है ये तो कहते तार्किक लोग को मन से अनुभव होता है वेदांत लोग कहीं मन का अनुभव सुख दुख मन ही स्वयं सुख दुख हो जाता है तो नहीं अनुभव नहीं आने पर भी नहीं ऐसा नहीं कर सकते अनुभव नहीं आने पर भी है अब सामान्य ये हम परमाणु है कीड़े है छोटे छोटे पानी में है दिखता नहीं अनुवीक्षण यंत्र से दिखते हैं चित्त से त्रिगुणतया चलते हैं तीन गुण त्रिगुण त्रयो गुणा यस्य यस्मिन चित्ते तित्तम त्रिगुणम अलोक विग्रह कैसे होगा यदि क्या आगे दस त्रिंगस और गुण आम आम एक में एक वचन और एक में बहुवचन त्री नित्य एक वचन होता है ना <laughs> तो बस कहते हैं स्त्री जस गुण जस त्रिगुण त्रिगुणतया तो चलत्व चित्त चल चलनशील है चित्तम चलम च चलम च गुण वृत्तम ये भाष्य में आया चंचल स्थिर नहीं है गुणानाम क्षणम अपरिणाम सा संभवात एक इच्छा में भी अपरिणाम नहीं हो सकता हमेशा ही परिणाम होता ही रहता है इसलिए निरुद्ध अवस्था में भी चित्त में परिणाम होता है तो कैसा परिणाम होता है ये प्रश्न है प्रश्नोत्तरम सूत्रम प्रश्न से उत्तरम सूत्र है व्युत्थान निरोध संस्कार अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम उत्थान निरुद्ध संस्कार अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वय निरोध परिणाम एक साथ गुनकर पढ़ना व्युत्था बोलो व्युत्थान निरोध संस्कार रविभव प्रादुर्भाव वित्थान निरोध संस्कार यो वित्थान से संस्कार संस्कार निरोध से संस्कार वित्थान से निरोध से वित्थान निरोधो तयो संस्कारो यदि वित्थान निरोध संस्कारो तय वित्थान निरोध से अभिभव निरोध वित्थान संस्कार से वित्थान संस्कार से अभिभव निरोध संस्कार से प्रादुर्भाव वित्थान का संस्कार और निरोध का संस्कार वित्थान है निरोध समाधि वित्थान व्यवहार समाधि का अभाव तो समाधि के अभाव में वित्थान अवस्था में विभिन्न अनुभव होता है संस्कार होता है जितने जितने समाधि चित्त निरोध करेंगे निरोध का भी संस्कार होता है जब निरोध चित्त निरुद्ध होता है उस समय क्या नया नया निरोध संस्कार की उत्पत्ति होती है और पुराने पुराने वित्थान संस्कार दब जाता है वित्थान संस्कार से अभिभव निरोध संस्कार से प्रादुर्भाव वित्थान संस्कार कम होता है निरोध संस्कार और बढ़ता है प्रादुर्भाव प्रकट होता है अधिकम ये होता रहता है समाधि में चित्त लगातार स्थिर है चित्त स्थिर लगता है किंतु समय ऐसे चलता रहता है निरोध संस्कार नया नया होता है वित्थान संस्कार कम जाता है कमती हो जाती है ये निरोध क्षण चित्तान्वय निरोध क्षण चित्त संबंधी है जिस समय से संस्कार वित्थान संस्कार अभिभव दब जाता है निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव होता है उस समय निरोध क्षण में चित्त निरोध क्षण जो चित्त निरोध अवस्था में जो चित्त है चित्त के संबंध होता है अन्वय यही निरोध परिणाम निरोध परिणाम यही है निर्भर काल में वृत्ति निर्भर काल में चित्त में से परिणाम होता है चित्त समय असंप्रज्ञातम समाधि अपेक्षा संप्रज्ञात वित्थान विक्रमण उत्थान वित्थान समाधि की अपेक्षा व्यवहार होता है वित्थान इसी प्रकार कभी असंप्रज्ञात समाधि होती कभी संप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात समाधि में सविकल्प विकल्प विशिष्ट समाधि है उसमें कल्पना है त्रिपुटी का ध्यान होता है मैं ध्यान कर रहा हूँ ज्ञाता ध्यान ध्येय ये भावना होती है किंतु असंप्रज्ञात समाधि में त्रिपुटी का भान नहीं होता है तो असंप्रज्ञात समाधि के विषय है संप्रज्ञात समाधि भी वित्थाने तो के समान हुआ जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब साधन अच्छे साधन अंतरंगत है किंतु धारणा ध्यान समाधि की अपेक्षा बहिरंग इसी प्रकार वो धारणा ध्यान समाधि तीन भी निरोध समाधि की अपेक्षा बहिरंग समाज समाधि जो सविकल्प समाधि यह भी वित्थान कोटि में आ गया असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा असंप्रज्ञात समाधि में अपेक्षा संप्रज्ञात वित्थान संप्रज्ञात समाधि वित्थान में आ गया निरुद्ध अननय निरोधता ज्ञान प्रसाद निरुद्ध के निरोध जिसके द्वारा निरोध किया जाता है ज्ञान प्रसाद ज्ञान स्वच्छता प्रसन्न होता है उसमें पूर्व व्युत्थान संस्कार का निरोध होता है निरुद्ध से अनैन व्युत्थान संस्कार का निरोध किया जाता है ये निरोध हो गया ज्ञान प्रसाद ज्ञान से प्रसाद ज्ञान से प्रसन्नता स्वच्छता ज्ञान आदि की स्पष्टता क्या है परम वैराग्यम यही ज्ञान प्रसाद है जितने जितने वैराग्य बढ़ता है इतने इतने ज्ञान स्पष्ट होता है वैराग्य नहीं होने का कारण ज्ञान में स्पष्टता नहीं है शब्द सुन करके तो मैं ब्रह्म हो तो कह लेंगे किंतु उसमें दृढ़ विश्वास निश्चय और मैं क्या निश्चय ऐसे हो तो वैराग्य बढ़ेगा ज्ञान प्रसादन ही परम वैराग्य है तयोर वित्थान निरुद्ध संस्कार अभिभव प्रादुर्भाव वित्थान निरोध संस्कार वित्थान संस्कार और संस्कार दोनों का अभिभव प्रादुर्भाव क्रम से अन्य करना वित्थान संस्कार का अभिभव निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव वित्थान आगे व्याख्या करते वित्थान संस्कार से अभिभव दब जाएगा निरुद्ध संस्कार से आविर्भाव होगा अधिक होगा चित्त से धर्मी न निरुद्ध क्षण से चित्त है धर्मी जिसमें परिणाम होता है परिणाम धर्म है किसमें होगा परिणाम चित्त में धर्म अस्मिन धर्म चित्त हो गया निरोधक क्षण से ल नहीं चाहिए निरोधक क्षण से भाष्य में निरोधक क्षण निरोध क्षण का से निरोध अवसर से निरोध काल निरोध अवसर निरोध समय द्वयोर और अन्वय है दोनों अवस्था में अन्वय है चित्त का अन्वय होता है गर्मी चित्त का पूर्व अवस्था उत्तर अवस्था पूर्व अवस्था है वित्थान संस्कार का अभिभव उत्तर अवस्था है निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव दोनों अवस्था में चित्त रहता है नहीं चित्तम धर्मी संप्रज्ञात अवस्थायाम असंप्रज्ञात अवस्थायाम च संस्कार अभिभव प्रादुर्भाव स्वरूप स्वरूपण विद्यते धर्मी चित्त धर्मी जो चित्त है स्वरूप तो भिन्न हो जाएगा ऐसा नहीं पूर्व अवस्था में संप्रज्ञात अवस्था है उत्तर अवस्था असंप्रज्ञात अवस्था अवस्था दोनों भिन्न धर्म भिन्न होने पर भी धर्मी स्वरूप तो भिन्न नहीं होता है वही एक ही है संस्कार अभिभव प्रादुर्भाव हो संप्रज्ञात समाधि में संस्कार संप्रज्ञात समाधि के संस्कार संप्रज्ञात समाधि को भी वित्थान कहा गया असंप्रज्ञात समाधि अपेक्षा तो संप्रज्ञात अवस्था में संस्कार जो होता है और असंप्रज्ञात समाधि में उसका अभिभव होता है और समाधि संस्कार का प्रादुर्भाव होता है तो पूर्व संस्कार अभिभाव उत्तर संस्कार प्रादुर्भाव हो गया उत्तर अवस्था में और संप्रज्ञात समाधि में केवल उत्थान संस्कार होता है तो भी दोनों में स्वरूपत भिन्न चित्त नहीं होता है चित्त एक धर्मी दोनों अवस्था में अन्य होता है ननु यथो उत्तरे क्लेथा अविद्या मूला अविद्या निवृत्त निवर्तन तनिवृत्त न पृथक प्रयत्नांतर थे एवं वित्थान प्रत्यय मूला संस्कार वित्थान निवृत्ता निवर्तन देती तनिवृत्त न निवृत्त संस्कार अपेक्षित उत्तरे क्लेशा अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश कितने अविद्या के उत्तर कितने है चार उत्तरे क्लेशा अविद्या मूला अविद्या मूलम ये क्लेशा नाम क्लेशा अविद्या मूला अविद्या मूल तो क्लेश है अविद्या मूल है मूल नष्ट हो जाएगा तो कार्य रहेगा अविद्या निवृत्तो निवर्तन अविद्या है मूल अविद्या है निवृत्तो उत्तरे क्लेशा कति चार क्लेशा निवर्तन कार्य निवृत्त हो जाते हैं इसलिए अविद्या निवृत्ति के लिए यदि भेद ज्ञान प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान होता है अविद्या की निवृत्ति होती है और आगे राग द्वेशादि निवृत्ति के लिए पृथक अंतरम न है अन्य प्रयत्न पृथक अलग नहीं करते हैं ठीक इसी प्रकार एवं वित्थान प्रत्यय मूला संस्कार वित्थान प्रत्यय होने से संस्कार होते हैं संस्कार का मूल कारण हो गया वित्थान प्रत्यय यदि वित्थान प्रत्यय समाप्त हो जाएंगे तो संस्कार भी समाप्त हो जाएंगे वित्थान निवृत्त आगे निवर्तन वित्थान प्रत्यय मूल का संस्कार मूल वित्थान प्रत्यय समाप्त हो जाएगा तो संस्कार भी निवृत्त हो जाएगा इति तनिवृत्त न निरुद्ध संस्कार अपेक्षितव्य तनिरुद्ध का वित्थान संस्कार निवृत्ति के लिए निरुद्ध संस्कार की अपेक्षा जरूरत नहीं निरुद्ध संस्कार होने पर ही वित्थान संस्कार की निवृत्ति होती है ये सिद्धांत का अभिप्राय जितने जितने निरुद्ध संस्कार बढ़ेगा इतने इतने वित्थान संस्कार अभिभूत दब गया वित्थान संस्कार दबने पर ही निर्दय संस्कार अधिक होगा तो समाधि होती है तो यहाँ कहते जब प्रत्यय वित्थान प्रत्यय से ही संस्कार होते हैं मूल हो गया वित्थान प्रत्यय ज्ञान वित्थान अवस्था में ज्ञान यदि वित्थान प्रत्यय निरुद्ध हो गए नष्ट हो गए तो संस्कार भी नष्ट हो जाएगा तो संस्कार में वित्थान संस्कार निवृत्ति के लिए निरुद्ध संस्कार की क्या आवश्यकता है उसकी अपेक्षा नहीं चाहिए ऐसा संक्रमण से कहते वित्थान संस्कार वास्तव में वित्थान संस्कार चित्त धर्म मन से का यदि प्रत्यय निरुद्ध न निरुद्धा वित्थान संस्कार वित्थान जन जो संस्कार है वो चित्त के धर्म है संस्कार ज्ञानात्मक नहीं है न तो का संस्कार तो प्रत्ययजन्य चित्त भी उत्पन्न होते हैं ज्ञान उत्पन्न होकर के संस्कार होता है ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो संस्कार रहेगा रहता है अनुभव अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना संस्कार संस्कार उत्पन्न होकर के ज्ञान नष्ट हो गया ज्ञान नष्ट होगा तो आगे स्मरण होगा होता है संस्कार हो गया संस्कार से स्मरण होता है तो संस्कार ज्ञानात्मक है या नहीं नहीं न्याय पढ़ना पड़ेगा संस्कार ज्ञानात्मक नहीं ज्ञान जन्य संस्कार है अनुभव जन्य स्मृति हेतु संस्कार ज्ञान नहीं है प्रत्यात्मक नहीं है चित्त धर्म संस्कार न तो प्रत्यात्मक प्रत्यय रूप नहीं है इति प्रत्यय निरोध है अनिरुद्धा मिट्टी से जो घट बनेगा वो मिट्टी है क्या मिट्टी है मिट्टी नष्ट हो जाएगा तो घट रहेगा क्योंकि मिट्टी मृद रूप है इसी प्रकार यदि संस्कार प्रत्यात्मक होता प्रत्यय नष्ट हो गया तो संस्कार भी नष्ट हो जाता किंतु संस्कार प्रत्यात्मक नहीं है इसलिए प्रत्यय निरोध होने पर निरुद्धा न भवती संस्कार निरोध संस्कार अपनी चित्त धरना निरोध संस्कार भी चित्त में होगी चित्त धर्म तय अभिभव प्रादुर्भाव वित्थान संस्कार से अभिभव निरुद्ध संस्कार से प्रादुर्भाव दे दिया वित्थान संस्कार ही अंते वित्थान संस्कार ही उभा नष्ट होते हैं कम होते हैं निरुद्ध संस्कार आदि अंते उत्पन्न होते जन्यंते निरुद्ध क्षण चित्तम अन्वेति निरुद्ध क्षण चित्त दोनों संस्कार को अन्य संबंध करता है संबंध होता है तद एक चित्त से प्रतिक्षण संस्कार अन्यथात्म निरुद्ध परिणाम तद का तस्माद एक चित्त से एक चित्त में प्रतिक्षण संस्कार अन्यथा तो संस्कार अन्यथा अन्यता है प्रथम क्षण में जितने वित्थान संस्कार है और निवृत्त संस्कार है द्वितीय क्षण में वित्थान संस्कार कम हो जाएंगे अनिवृत निवृत्त संस्कार बढ़ जाएंगे संस्कार अन्यता अन्यथा करके परिणाम होता है तदा संस्कार शेषम चित्तमिति निरोध समाधो करूँ तब चित्त रहेगा संस्कार शेषम अंत में चित्त में संस्कार ही रहेगा निरुद्ध संस्कार बढ़ जाएगा तो निरुद्ध संस्कार रहेगा निरुद्ध समाधि निरुद्ध समाधि में संस्कार ही रहेगा प्रत्यय नहीं रहेगा ये व्याख्यान हुआ चित्त स्वरूप ठीक है न कारण मात्र निवृत्ति कार्य निवृत्ति हेतु कारण के निवृत्ति होने पर कार्य रहेगा कारण नष्ट होने के बाद कार्य रहता है कुलाल घट बनाता है कुलाल मर जाएगा तो घट रहेगा तंतुवाय पट बनाता है जो तंतु बनाने के लिए यंत्र है तंतुवाय मर गए आगे लगेगा जो पट खरीद कर दुकान में रखा है दुकान में पट रहेगा जलेगा कार्य नाश कारण नाश से कार्य नाश हो जाए न कारण मात्र निवृत्ति कार्य निवृत्ति हेतु किसी भी कारण की निवृत्ति कार्य निवृत्ति है नहीं ऐसा मानेंगे तो महाभूत कुविंद निवृत्त अभी पट से निवृत्ति यदि कारण मात्र की निवृत्ति से कार्य की निवृत्ति मानेंगे और पट बनाने वाले यदि मर जाएगा और अपने पास कपड़ा भी नष्ट हो जाएगा महाभूत न भवे कुविंद निवृत्त अभी पट से निवृत्ति न भवे इसलिए क्या मानना पड़ेगा कारण मात्र निवृत्ति से कार्य निवृत्ति नहीं होती तो फिर कैसे अपितु तो यथ कारणात्मकम यथ कार्यम तत्कारण निवृत्तो तत्कार्य निवृत्ति यथ कार्यम यथ कारणात्मक घटात्मक कार्य मृत कारणात्मक मृद रूप है मृत्यु के नाश होने पर घटनाश पटात्मक कार्य तंतुआत्मक है तंतु नष्ट होने पर पट नष्ट होगा यत् कारणात्मकम यत् कार्यम यत् कार्यम यत् कारणात्मकम यत् भूषण कार्यम किम कारणात्मक सुवर्ण कारणात्मक तत्कारण निवृत्त सुवर्ण नष्ट हो जाने पर तत्कार्य निवृत्ति भूषण की निवृत्ति हो जाएगी सुवर्ण नष्ट होने पर निवृत्ति उत्तरे च क्लेशा अविद्यात्मान उत्तम उत्तरे क्लेशा अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश ये सब अविद्यात्मक पहले कहा गया है अत तनिवृत्त हो तेसा निवृत्ति रूपन तनिवृत्त हो तस्या अविद्या निवृत्त अविद्या की निवृत्ति हो जाए तो तेषाम निवृत्ति तेषाम केशाम अस्मिता दिना नाम कते नाम चतुर नाम चार अस्मिता राग देश अभिनिवेश उनकी निवृत्ति तो संभव है न प्रत्यात्म न संस्कार संस्कार प्रत्यात्मक नहीं है क्योंकि प्रत्यय ज्ञान नष्ट होने पर भी जिसका पहले अनुभव हुआ था वो अनुभव अभी है ना नहीं है जो अनुभव पहले हुआ था एक साल पहले वो अनुभव अभी है अरे अनुभव है नहीं प्रश्न क्या स्मरण होता है अनुभव है ना नहीं ज्ञान तो है ज्ञान भी नहीं है ज्ञान तो है जो तो सामान्य लोग कहेंगे न्याय पढ़ने वाले को भी कहेंगे ज्ञान है एक साल पहले जो अनुभव किया था उसका ज्ञान अभी है नहीं बद्रीनाथ दर्शन किया था एक साल पहले उसका ज्ञान अभी नहीं क्या ज्ञान नहीं है स्मरण होता है स्मरण भी ज्ञान है अनुभवात्मक ज्ञान नहीं स्मरण हो सकता है किन्तु हमेशा स्मरण नहीं है जितने वस्तु का ज्ञान हुआ है संस्कार सबका जितने सबका है सबका तो नहीं जितने का संस्कार है सबका स्मरण सब समय होता है नहीं होता है संस्कार होने पर भी सबका स्मरण नहीं होता इसलिए जो ज्ञान पहले हुआ था अभी वो ज्ञान नहीं है संस्कार है तभी स्मरण होता है जितने का संस्कार है सबका स्मरण होगा तो एक समय में क्या करेंगे हजार विषय संस्कार है स्मरण किस होगा कभी किसका स्मरण होता है न तो एवं प्रत्यात्म संस्कार संस्कार प्रत्यात्मा न प्रत्यात्म नहीं प्रत्यय रूप नहीं सीधा निरुद्ध प्रत्यय संप्रति स्मरण दर्शनार्थ ये एक साल दो साल बहुत काल पहले अनुभव किया था अभी इसका स्मरण होता है संप्रति स्मरण होता है दीर्घ काल होने पर भी प्रत्यय तो कभी नष्ट हो गया था अब इसका स्मरण होता है तस्मा प्रत्यय निवृत्ता तनिवृत्त विरोध संस्कार प्रत्यय उपासनीय इसलिए वित्थान प्रत्यय की निवृत्ति होने पर भी वित्थान प्रत्यय वित्थान व्यवहार ने छोड़ दिया तो भी संस्कार रहते हैं चित्त में तभी ध्यान में बैठते हैं पहले जो अनुभव व्यवहार किया था अभी सब छोड़ कर बैठने पर भी आँख बंद करके कान बंद करके बैठ जाएंगे बढ़ जाए तो संस्कार से स्मरण होगा तो संस्कार अंदर रहता है सो स्मरण होता है ध्यान कर बैठने के लिए कान में कुछ लगा देते हैं आँखें बंद कर तुम कहीं बंद बंद कर बैठो बाहर सुर बंद कर देंगे अंदर संस्कार रहेगा उसका स्मरण होगा स्मरण होता है चिर निरुद्ध प्रत्यय संप्रति स्मरण दर्शन आता इसलिए प्रत्यय निवृत्ति होने पर बाह्य प्रत्यय की निवृत्ति भी करे और अंदर जो संस्कार है उसको नष्ट करने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ेगा प्रत्यय के तनिवृत्त निरुद्ध संस्कार पश्य समाज अभ्यास करने पर निरुद्ध संस्कार होता है निरुद्ध संस्कार अधिक होने पर व्युत्थान संस्कार कम होगा इसलिए निरुद्ध संस्कार के अधिक होना चाहिए उपासनीय ये अनुष्ठान करना चाहिए सुगमम अन्यत अन्यत जो कुछ है सुगम सरल है भाष्य पूरा हो गया था तथा संस्कार से संचितमिति निरुद्ध समाधो व्याख्यातम निरुद्ध समाधि में कहा गया संस्कार से चित्त रहेगा सर्वथा वित्थान संस्कार आविर्भवित बलवत्ता निरुद्ध संस्कारेण कीटिश परिणाम इत्यत आह जब निरंतर निरोध अभ्यास समाधि अभ्यास करेंगे तो निर्दोष संस्कार नया नया उत्पन्न होगा और तो बलवान है बलवत्ता निरुद्ध संस्कार है न सर्वथान वित्थान संस्कार अभिभावित बार बार समाधि करने पर निरुद्ध संस्कार बलवान होने से उसके द्वारा वित्थान संस्कार का अभिभव वित्थान संस्कार की हानि न्यूनता दब जाएगा सर्वथा अभिभावित निरंतर समाधि अभ्यास करने पर वित्थान संस्कार समाप्त हो जाएंगे तो उस समय केवल निरुद्ध संस्कार रहेगा कीर्ति से परिणाम उस समय के से परिणाम होगा पहले तो परिणाम दोनों प्रकार कहा था वित्थान संस्कार का अभिभाव और निरुद्ध संस्कार का प्रादुर्भाव किंतु जब वित्थान संस्कार पूरा समाप्त हो गए अभी समाधि के बाद संस्कार कैसे रहेगा समाधि काल में इत आह तस् प्रशांत वाहिता संस्काराद तस्य प्रशांत वाहिता प्रशांत वाहिता चित्त से प्रशांत वाहिता संस्काराद प्रशांत वाहिता संस्कार के कारण निरुद्ध संस्कार से चित्त में प्रशांत वाहिता प्रशांत बहुत ही प्रशांत वाही तस्य भाव प्रशांत वाहिता शांत रहती रहता है चित्त प्रशांत रूप से शांत होकर के प्रत्यय नहीं होकर के ज्ञान स्मरण नहीं होकर के शांत रहता है चित्त ऐसे निरंतर वन जैसे जल बहता जाता है उसे चित्त शांत होकर के रहता ही समझ जाता है प्रशांत वाहिता चित्त संस्कार वित्थान संस्कार मल रहित निरोध परंपरा मात्र वाहिदा प्रशांत वाहिदा वित्थान संस्कार रूप मल वित्थान संस्कार है मल चित्त का ये मल समाप्त हो गया तो मल रहित तो हो गया उत्थान संस्कारात्मक मल रहित तो मल शून्य हो गया चित्त निरोध परंपरा मात्र निरोध संस्कार का ये परंपरा चलती है निरोध परंपरा मात्र वाहिता निरोध संस्कार अधिक अधिक होते रहते हैं यही प्रशांत वाहिता निरोध परंपरा को संस्कार बनाए अच्छा अच्छा व्युत्थान संस्कार मल रहित तो निरोध संस्कार परम परंपरा ठीक है निरोध संस्कार परंपरा निरोध संस्कार परंपरा मातृभाषिता निरोध संस्कार की परंपरा चलती है नए नए संस्कार होता रहता है ये प्रशांत भाषिता तस्मात् पुनः संस्कार पाठवम अपेक्षते न तो संस्कार मात्र संस्कार पटु अधिक स्पष्ट होने पर भाष्य में दिया है निरुद्ध संस्कार निरुद्ध संस्कार अभ्यास पाठवा अपेक्षया प्रशांत बाहिता चित्त से भगवत चित्त से चित्त से चित्त में प्रशांत बाहिता होगी कब होगी निरुद्ध संस्काराद निरुद्ध संस्कार संस्काराद क्या है निरुद्ध संस्कार अभ्यास पाठव अपेक्षया निरुद्ध संस्कार के अभ्यास बार बार करने से उसमें पाठव कठोर भाव पाठव पटुत्व अत्यंत स्पष्ट पटु संस्कार स्पष्ट होने पर प्रशांत वायता होती है इसके विरुद्ध से संस्कार पाठव अपेक्षित अकस्मात संस्कार की पटुता की क्या आवश्यक है संस्कार मात्र से क्यों प्रशांत वाहिता नहीं है क्या तत्संस्कार मानदे वाच्य में दिया है तत्संस्कार मानदे वित्थान धर्मिना संस्कार निरुद्ध धर्म संस्कार अभिव्यत यदि निरुद्ध संस्कार मानदेय मंद हो जाएगा समाधि अभ्यास बहुत निरंतर करना पड़ता है समाधि हो जाने पर भी छोड़ना नहीं निरंतर अभ्यास करने से ही नहीं तो वित्थान धर्म ना संस्कार वित्थान धर्म वाले जो धर्म चित्त में संस्कार है वित्थान धर्म ना संस्कार है वित्थान धर्मी यश्य तेन वित्थान जनित नीति आवश्यक वित्थान धर्मी यश्य संस्कार से तो वित्थान धर्मिणा संस्कार का विशेषण हो गया वित्थान धर्मिणा तो वित्थान धर्मी यश्य वित्थान धर्मी न संस्कार तो वित्थान जनित ये ठीक मैंने है ठीक है वित्थान धर्मिणा संस्कार वित्थान धर्मी संस्कार और वित्थान धर्मी दोनों तृतीयांत है वित्थान धर्मी है संस्कार तो वित्थान धर्मी यस्य संस्कार से संस्कार वित्थान धर्मी संस्कार का धर्म है वित्थान अर्थात वित्थान से जो संस्कार उत्पन्न होगा वो तो संस्कार का धर्मी आश्रय हो गया वित्थान वित्थान से उत्पन्न होता है तो वित्थान धर्मी का अर्थ करना वित्थान जन्य न वित्थान जन्य संस्कार से निरुद्ध धर्म संस्कार निरुद्ध धर्म संस्कार दब जाएगा वित्थान जन्य संस्कार से इसलिए निरुद्ध संस्कार की पटुता चाहिए मंद होगा तो वित्थान संस्कार उसको दबा देगा अभ्यास करके वो अधिक होने पर भी वित्थान संस्कार रहता है है मैं तद तत्संस्कार मानदी निरोधम परामर्शति तत्संस्कार माध्य का थे निरोध संस्कार माध्य तत्व से निरोध लेना ये तो नाभिभूयत पठाती निरोध धर्म संस्कारो अभिभूयते निरोध धर्म संस्कारो अभिभूयत लिखा है यहाँ कहीं कहीं पाठ है ये नाभिभूयते वित्थान धर्म संस्कार निरोध धर्म संस्कारो न अभिभूयते नाभिभूयते जो पढ़ते हैं तेन तदा वित्थान परामर्शंती तो तदा तत्शब्द से वित्थान है ना तत्संस्कार मान दे तो न अभिव्यत पाठ करेंगे तत्संस्कार माध्य से वित्थान संस्कार मानते तत्व से पहले निरोध लिया था किंतु न अभिव्यत ऐसा पाठ रहेगा तो तत्व से लेना वित्थान वित्थान संस्कार मानते वित्थान संस्कार यदि मंद होगा तो वित्थान धर्म संस्कार से निरुद्ध धर्म संस्कार अभिभूत नहीं होगा तो न पाठ रहेगा तो तत्व से लेना पड़ेगा विस्थान न नहीं जैसे में पाठ है उसके अनुसार तत्व से लेंगे निरोधक ओम